कितने एक के बाद एक के बाद एक बीतते जाए तो कहते राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार अब तो भगवान जब लीलाएं करते हैं चरित्र उनको होते हैं तो तमाम तमाम चरित्र सब भगवान राम ने दस हजार वर्ष तक राज्य किया और दस हजार वर्ष के सिंहासन पर बैठने के बाद उत्तर कांड में भगवान राम की कथा लगभग समाप्त हो गई उसके बाद में बस ये वशिष्ठ जी एक दिन आते हैं भगवान राम जो है एक बार जो है अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं कहीं हनुमान जी और भरत जी बगीचे में बैठते हैं तो सत्संग होता है कहीं सनत कुमार आते हैं बस इतनी घटनाएं घटती हैं अरे दस हजार दस में बस इतना ही हुआ हम्म? अब दस हजार वर्ष की कथा सुनाने लगो कि कब तक किस दिन किस दिन ने क्या किया तो तुलसीदास ने यही कह के छुट्टी पाली कि भगवान राम नित्य नई लीलाएं इसी प्रकार से करते रहे अब कहाँ तक रोज रोज की कथा सुनाते रहो अब हम्म? किसी को सुनानी हो तो दस हजार वर्ष की कथाएं दस हजार में <clears throat> तीन सौ पैंसठ दिन की गुणा कर दो फिर जितने हुए उतने हजार कथाएं हम्म? लाखों करोड़ों कथाएं हो गई और फिर एक दिन में एक एक कथा हो तो एक एक हो कर दो दो हो दस हो बीस बीस हो उन सबकी कथाएं उतनी कहने लगो कितनी कथाएं हो जाए तो कहते हैं भगवान की इस प्रकार से अनंत कथा विस्तार भी है तो सुने आचार्य जिन मानी है जिनके विमल विचार लेकिन जिनके के विचार <clears throat> विमल विचार है जो विचार करना शुद्ध चित्त से विचार करने वाले हैं तो वो लोग तो इसमें संशय नहीं करेंगे कोई आश्चर्य की बात भी उनको नहीं लगेगी <clears throat> लेकिन जिनके के विमल विचार नहीं मलिन विचार जिनके हैं तो मलिन के माने मलिन तब होता है जब किसी को दोष दृष्टि से देखते हैं तो उसका मन मलिन कहलाता है उसके दोष ही दिखाई देंगे <clears throat> तब उसमें दोष ढूंढने के दृष्टि से कथा सुनने लगेगा कि हम इसके दोष बताएंगे तो फिर उसकी दृष्टि ही मलिन हो गई फिर उसको नाना प्रकार के दोष ही दोष दिखाई देंगे आश्चर्य भी करेगा लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से आश्चर्य नहीं करते वे लोग जो इस कथा के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं गहराई में जाते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य क्या है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं इसमें जो भगवान के गुणों का वर्णन किया है किया गया है उनकी महिमा का वर्णन किया गया है वो हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है कैसे हमको शांति देने वाला है विश्राम देने वाला है आनंद देने वाला है ये उसमें से धीरे धीरे करके अनुभव करते हैं समझने की कोशिश करते हैं ये ज्ञानमान लोगों का है बस एक बात हुई उसका विवाद बात ते कामादिदोषरहितं कुरुमान् संशय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ओम पूर्ण मदा पूर्ण पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्